प्रीति लालिका सजा सुल दिन राती कन बहु व्रण चिंता जर छाती सो तीन कपिराऊ अति कृपाल रघुवीर सुधारू नाम कहीं प्रभु परिहर न जाल मेरे पर तुम हो गी वही बुलाई कारुण पनीत सिखाई प्रभु सुन सो जीव हरी न जाऊं बस तारे

जब सो जीव भवन फिर आवे राम प्रवर सम गुरु पर छावे सतमई देवन गुरु गुहा रात गुरु चिर बनाए कृपानुधि कचोदी दास करेंगे आए नरेंद्र देव काम करें कि हो किसकुंडा नगरी हो और वहाँ बाल बद का कार्य पूरा हो गया सुग्रीव को भी राष्ट्रीय आसन पर बैठा दिया गया उन लोग की राज बना दिया गया तो कार्य पूरा हो गया अब इस कार्य पूरे होने पर शंकर जी जो ये कथा बाले सुग्रीव जी सुना रहे थे अब उसका तात्पर्य बता रहे हैं अब इस कथा सुनने को आप क्या सीखे क्या समझे हाँ? तो वो जो को समझना चाहिए उस कथा से वो आप शंकर जी बताते हैं हर कथा है और उस हर कथा की कोई शिक्षा है <clears throat> तो इसमें शिक्षा उस कथा की है कि उमा राम संकित जगमा ही शंकर जी कहते हैं पार्वती सुनो बस तुम समझ लो भगवान श्री राम जी के समान संसार में अपना कोई हितु है नहीं दुनिया एकमात्र भगवान राम ही सबको और मना कर दिया गुरु पिता मात बंधु प्रभु नाही गुरु भी पिता भी माता भी बंधु भी स्वामी मालिक कोई जिसका जैसे नौकर हो तो उसका मालिक हो स्वामी तो उसको प्रभु ये कोई भी जो है ये है ऐसे हितकारी नहीं है जैसे कि भगवान सबसे अधिक भगवान राम सबसे हितकारी <clears throat> तो कहते ये सब हितकारी नहीं है क्यों तो उसका कारण बताते हैं कि वे इनको कार्य न समझे भगवान को कहते सूर्य नरगुण सभी का यह रीति चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे मुनि हो सबकी यही रीति है मैंने सबकी यही ऐसे ही करते हैं उनका स्वभाव ऐसे ही व्यक्तियों का कि स्वार्थ लागू कर उन्हें सब प्रीति सबका सबकी प्रीति है स्वार्थ के कारण सब अपने अपने स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं अपने हित से अपने स्वार्थ के कारण दूसरे से प्रेम करते हैं नहीं तो दुनिया में कभी तो किसी का कोई खेल नहीं था जहाँ स्वार्थ नहीं समझौता वहां कोई जो है वो कुटिया से नहीं कहते हुए कहते हैं कि बाल खराब हो व्याकुल तो दिन राखी लेकिन भगवान राम ने कोई स्वार्थ नहीं अब देखो लोगों को यहाँ लगेगा संतपति क्या कहते हैं ऐसा ऐसा लगेगा भगवान श्री राम जी का काम अटका था इसलिए सुग्रीव गया मित्रता की जा करके और मित्रता करके बाली को मारा और सुग्रीव को सिंहासन को बैठा ला हम्म, तो शंकर जी कहते हैं ये चीन की बातें ऐसा भाव उन्होंने कभी मतला भगवान राम का कोई स्वार्थ नहीं था स्वार्थ के कारण उन्होंने सुग्रीव से प्रेम भी नहीं किया भगवान का जो प्रेम है जो कृपा है वो निस्वार्थ है इसलिए भगवान को सोहित तो कहते हैं सोहित के तो माने है जो बदले में कुछ न चाहे और दूसरे के प्रतिपल को पा करो ये सोच यहाँ नाम जितने से गिराए गुरु के तुम्हारे दंड करो उनमें सबने भगवान के भक्तों को छोड़ दिया भगवान के भक्त भी जैसे भगवान दूसरे के ऊपर हित करने वाले हैं निस्वार्थ भाव से ऐसे भगवान के भक्त भी करने वाले हैं ये बात उत्तर उत्तरकांड में आती है वहाँ पर तो यहाँ पर छोड़ दो एक <clears throat> रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असरारी वहाँ अयोध्यावासी कहते हैं कि हे भगवान एक रहित बिना कारण के उपकार करने वाले संसार में दो हैं एक तो आप हैं और फिर एक दूसरे जो है वो आपके भक्त हैं और भक्त जब भगवान में हो गया तो वो दूसरे को हित करना उसका स्वभाव बन जाता है उसकी कोई कामना हो चाहे इच्छा हो चाहे न हो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो उससे कोई मतलब नहीं उसका स्वभाव बन गया इस प्रकार के दूसरे का हित करो जैसे भगवान का स्वभाव है कि दूसरे का हित करो बाकी छोड़ करके भगवान को छोड़ करके भक्तों को छोड़ करके बाकी तो सब दुनिया में जहाँ मेरा तेरा मेरा तेरा है तो वहाँ सब जगह जो है स्वार्थ स्वार्थ सब जगह संसार के संबंध में इस प्रकार के गिना दिए जैसे गुरु से संबंध है पिता पुत्र माता पुत्र आदि का है और फिर बंधु का भाई भाई का संबंध है प्रभु है स्वामी सेवक का संबंध है तो जहाँ संसार के जितने भी संबंध है उन सब संबंधों में किसी भी प्रकार के संबंध हो निकटतम संबंध हो तो भी स्वार्थ रहता है उसके पीछे कोई भी कोई छुपा रहता है तो स्वार्थ की जब स्थिति होती है तब कोई दूसरा व्यक्ति जो वो किसी से प्रेम करता है आशा करता है और इस बात को तो मुझसे भी दिखा सकते हो वेदांत का सिद्धांत क्या कहता है संबंध में तो देखते हैं प्रकार में उपनिषद में जब बल के मैत्री को समझाते हैं कहते तो तो देखो प्रेम के दुनिया में कोई किसी भी करता नहीं एकमात्र अपना आत्मा ही है जो प्रेम स्वरूप है सबका प्रेम उसी से बाकी जहाँ कहीं भी प्रेम है वो प्रेम अपने ही लिए ही अपने आत्म स्वरूप के लिए प्रेम के कारण से दूसरे को प्रेम करता है हाँ? अब कहीं अब जैसे किसी व्यक्ति को खाना कोई भोजन जो है वो बहुत प्रिय है क्षेत्रीय अपने जीव में वो स्वादिष्ट लगता है पेट जाकर के स्वास्थ्य प्रदान करता है इसलिए वो प्रिय है नैतिकाय तो का प्रयोग है हम्म? ऐसे करके वो वहाँ पर याज्ञवल के सब दुनिया भर की वस्तुओं को जना देते हैं पति पत्नी के संबंध को अब जिस निकट लगता है ऐसा लगता है कि पति के पत्नी बड़ी प्रिय है पत्नी को लगता है कि पति बड़ा प्रिय है मन से शुरू कर देते हैं याज्ञवल कहने लगते हैं ना कुछ नहीं पत्नी को पति अपने लिए प्रिय है पति को पत्नी अपने लिए प्रिय है उसके लिए प्रिय पड़े तो अपने लिए प्रेम है इसलिए उसको जो है वो प्रेम दिखाता है दूसरे को ऐसे फिर पुत्र का नाम लेते हैं फिर पत्नियों का नाम लेते हैं फिर धन संपत्ति का नाम लेते हैं काम तो दिन बड़ी भारी लिस्ट देते हैं सब संबंध जितने दुनिया भर के आजकल गिना देते हैं तो ये कहते हैं ऊपर ऊपर से लगता है कि बड़ा प्रेम है दूसरे को लेकिन अब दूसरे ऊपर किसी से प्रेम है सब अपने लिए प्रेम है तो इसलिए कहते हैं कि ये सब सबका जितना भी संसार का जितना भी प्रेम है ये सब स्वार्थ में प्रेम है अपने लिए प्रेम है इसलिए दूसरे से भी प्रेम करते हैं लेकिन एक परमात्मा ऐसा है आत्मा परमात्मा ब्रह्म तत्व जिसका कि अपना कोई स्वार्थ ही नहीं अपना कहीं कुछ है नहीं वो अपने आप में पूर्ण है इसलिए उसका प्रेम फिर अन्य लोगों के ऊपर प्राणियों के ऊपर सबके ऊपर है और उनसे कुछ भी नहीं चाहता भगवान राम के प्रसंग में देखें तो भी अभी देखो भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान है उनको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं वो तो इनको सुग्रीव को तो राज्य बना दिया उसका दुख तो दूर हो गया उसकी पत्नी भी प्राप्त हो गई तो उसका उपकार हो गया उसके ऊपर अब उसके बाद यदि वो बान्य सेना लेते हैं और अगर यह सीता जी को खोज करवाते हैं तो आगे चल करके जब लगता का अंत आएगा से जब युद्ध होगा तो वहाँ पर हनुमान जी भी कहते हैं और जानदान भी कहते हैं ये सब लोगों को समझ में आ जाता है समय युद्ध के समय में कि हम सब लोग तो केवल पुतली पुतली है नाटक नाटक मात्र के लिए छाया छाया करके हम लोग उछल कूद रहे हैं वास्तव में सब शक्ति तो भगवान राम की है और उन्हीं का युद्ध चल रहा है और सब बेकार ये सब इतने लोगों को सुग्रीव आदि को भगवान कभी कभी दूसरे लोगों को यश देने के लिए उनको भी शामिल कर दिया अब जिससे पता लगे तो देखो सुग्रीव के बल से उनकी सेना के बल से भगवान राम ने विजय प्राप्त की तो सुग्रीव की जयकार हो हनुमान जी की जयकार हो है इनके सबके योद्धाओं की जयकार हो इनकी प्रशंसा हो तो उनको यश तीर्थ देने के लिए भी भगवान यश तीर्थ तो देना किसी को उपकार तो है कि स्वाद है किसी को इस प्रकार का यश तीर्थ दिला दिया किसी को <clears throat> तो ये तो परोपकार ही हुआ भगवान ने इनको सबको इसलिए नहीं पता किया तो अपना स्वार्थ होगा इनको यश प्राप्त होगा इसलिए शामिल कर लिया उन्हें नहीं तो भगवान तो अपने आप ही जहाँ बैठे धाम में बैठे तो वहीं श्रावण को मार देते लोग कहते भी है जैसे अर्थना जी कहेंगे अरे भगवान इतने शक्तिशाली है उनको अवतार लेना पड़ा और फिर उसके बाद में रावण से लड़ना पड़ा तब बिचारे मार पाए ऐसे भी भगवान होते हैं भगवान का शक्तिमान होते हैं जहाँ बैठे वहीं इच्छा दिए वहीं घुमा देते लेकिन ऐसे नहीं करते हैं जो दूसरे लोगों को उपकार करने के लिए दूसरे लोगों को यश देने के लिए और उनके लिए उतार लिया अपने लिए नहीं अपनी असमर्थता व्यक्त करने के लिए नहीं है सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो ये बात साफ साफ समझ में आ जाएगी आगे पीछे आपको लगेगी जिस भगवान राम ने एक बाण से बाल जैसे महाबली व्यक्ति को मार दिया हो तो जिस बाल के साथ में रावण गवा रहा हो उसकी सहायता करने के लिए सुग्रीव जरूरत है अब करिए आप कैलकुलेट कर लो शक्ति का शक्ति का कैलकुलेशन होता गणना होती है कि रावण दबा रहा है बाली के साथ में और उस बाल को भगवान राम ने मार दिया एक बाण को तब उस रावण को मारने के लिए किसी पर सहायता की जरूरत है गया इसलिए जो है जो ना समझे कि भगवान अपने स्वार्थ के लिए उस गुरु से निकटा उन्होंने की तो बाल इतना जाते लोग दिन रात ही तो तो देखो बाल जो है गंगा जो है डॉक्टर भी कहा करता अब भय उसका दूर हुआ प्राप्त मैंने भय बाल प्राप्त जाति कथा सुनिए कभी तो कह रहे थे बार बार उसका उल्लेख आता था कि सुग्री भयभीत भयभीत महाभय मह भय व्याकुल ये सब बार बार बात आती रहती थी अब उसका भय दूर कर दिया भगवान भगवान ने उसको कभी कृपा की अब तुम लोग अभी सुग्री बात से डरेगा अभी सुग्री तो सुधी किताब रख करके उसका शरीर फुकवाया अब उसको क्या दर्श का तो इसलिए सारा दर्श का समाप्त हो गया बाल की क्या खत्म हो गया बाल उतरा जाके दिन राती और तन बहुब्रण चिंता जर छाती जब वो शरीर में उसके बहुत व्रण व्रण में घाव शरीर घायल था उसका मार खाते खाते और चिंता जल छाती और बाल की चिंता के कारण उसकी छाती जलती रहती थी चिंता में छाती जलती है कैसे तो उसकी जलती रहती डर लगता रहता तो उसका यहाँ चिंता के माने में ही है अब ये देखो इसमें हुआ ये तो वैसे तो बाल ने सुग्रीव को बहुत मारा सुग्रीव भागा और वो कहता कि हम दुनिया भर में भुवन भर में बिहार घूमते रहे और ये हमारे पीछे पड़ा रहा बाली तो बाली ने बहुत मारा सुग्रीव को सारा कहीं घायल हो गया लेकिन उसके बाद में हनुमान जी के कहने पर ये श्री पर्वत के ऊपर आकर के यहाँ बात करने लगे तब जब यहाँ पर आ गए पर्वत के ऊपर तब वैसे थोड़ी सी शांति इनको मिली लेकिन बाली ने क्या किया कि बाल ने सोचा कि हमको साफ के कारण से जिस पर्वत पर जा नहीं पाएंगे तो वो अपने सैनिकों में से योद्धाओं में से तैयार करता रहता था उनको कि जाओ तुम सुग्रीव को मार करके आओ तो एक व्यक्ति जो आदमी जब जाते थे तो दो प्रकार की कथाएं किस तो ये है कहते हैं कि उनको ऋषि का साथ था तो वो जाते तो पत्थर हो जाते इसलिए कोई जाते नहीं था वहां पर पर्वत के ऊपर जो जाता था बालिका भेजा हुआ वो पाषाण हो जाता दूसरी कथा के अनुसार ये है कि बाल जिनको को भेजता था वो सुग्रीव से जाकर के लड़ते थे और सुग्रीव की और उनसे लड़ाई होती थी तो लड़ाई होने में वो सुग्रीव को बहुत मारते थे घायल कर देते और लेकिन सुग्रीव इतना फिर भी बनी था कि उन लोगों को तो मार देता था फिर मर जाते थे तो जो बाल के भेजे हुए जितने आते थे उनको सुग्रीव युद्ध करके मार तो डालता था लेकिन स्वयं भी घायल हो जाता और जब तक उसके घाव ठीक हो उनका उपचार हो हो तब तक वो कोई दूसरा तैयार हो जाता था बाल फिर भेज देता था फिर लड़ाई होती होती तो फिर घायल हो जाता था तो शरीर बराबर घायल रहता था हाँ, इस प्रकार <clears throat> लड़ते ही लड़ते उसकी जिंदगी बीत रही थी उसको ये लगता था चिंता इस बात की थी कि शायद क्या होगा तो जिंदगी भर ऐसे लड़ते लड़ते मार खाते खाते ऐसी तो जिंदगी बीते बाल हाँ, कभी छुड़ेगा नहीं क्या हमको उसको कोई उपाय नहीं पूछता था कि अब क्या उपाय होगा कैसे हमारी जान बचेगी कैसे जीवन में शांति होगी उसे कोई उपाय नहीं मिलता ये तो कथा है माने कथा की दृष्टि से ये सब है जैसे देखो कि जीव जो है वो है भय से चिंता से व्याकुल रहता है शंकराचार्य जी कहते हैं कि संसार जीव संसार के बंधन में वो संसार क्या है तो इसकी चिंता ये प्रशंसा है चिंता के कारण जीव अपने संसार की रचना करता है संसार की रचना होती है संसार में राजदेश होते हैं लेकिन संसार उत्पन्न कैसे होता है अज्ञान के कारण चिंता होती है चिंता के कारण संसार की रचना होती है विक्रम बताते हैं अज्ञान के मैंने मोह है आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान नहीं है तो ये अज्ञान हुआ अज्ञान होगी तो क्या होगा चिंता उत्पन्न होगी संसार की चिंता शरीर की चिंता संबंधों की चिंता धन परिवार इत्यादि की चिंता इन सब की चिंता है जब जैसे जितनी चिंता लगा रहेगा बुद्धि बराबर बराबर में सोचा करेगी सोचा करेगी सोचा करेगी तो सोचते सोचते चिंता करते करते फिर उसको एक मानसिक संसार रचना हो जाती है मानसिक सृष्टि कल्पना कर लेता है ये मेरा वो तेरा राग देशात्मक संसार रचना हो जाती है और बस ये फिर उसी संसार में ही घुसित रहता है अब इससे कौन खड़ा हो हाँ? जीव अपने आप से छूट नहीं सकता अगर जीव को बता दिया जाए कि देखो अब के कारण तुम्हारी दशा हुई और चिंता करते करते तुम संसार जाल में फंस गए और राजदेश में पढ़ करके तुम दुखी हो रहे हो और जीव को पता भी चल जाए कि हमने अपने आप इस प्रकार से ये गलती से ये सब कर रखा है तो क्या जीव बचा जाता है वो अपने आप का चलो गलती होगी हम सुधारेंगे तुम तो उसको सुधारे सुधरेंगे उसके लिए एकमात्र उपाय यही है कि परमात्मा के शरण में जाए तो परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है वही जीव का उद्धार कर सकता है और परमात्मा जीव का उद्धार करता है तो किस लिए करता है उसका क्या स्वार्थ है उसका कोई स्वार्थ है वो तो बिना स्वार्थ करता है केवल उसके शरण में जाओ तो बिना स्वार्थ के भी जीवन का उद्धार करता है इसलिए आपको वहाँ परमात्मा स्वार्थ नहीं भूल सकते इसलिए कहते हैं बाल प्राप्त व्याकुल दिन जगन वरण चिंता जर छाते श्री सुग्रीव इन कपिराऊ कहते सुग्रीव को भगवान ने कपिराज बना दिया माने बानर जो देश बानरों का देश उन सब बानरों का राजा सुग्रीव को बना दिया अति कृपाल और रघुवीर स्वभाव देखो भगवान का स्वभाव कितना कृपाल कैसे दयालु भगवान और कहते जाने कभी प्रभु पर रही जो लोग जानते हैं कि भगवान ऐसे समर्थ हैं कृपालु हैं दयालु हैं शरणागत तो भक्त बत्सल है ऐसा जानने वाले व्यक्ति भी प्रभु परिहरण भगवान की परवाह नहीं करते और संसार में भौतिक ज्ञान में फंसे रहते हैं और समझते हैं अपनी बुद्धिमत्ता से हम अपने आप को सुखी बना लेंगे संतुष्ट बना लेंगे उनके लिए कहते हैं काहे न विपत्ति जाल में पर ही ऐसे मनुष्य भरा विपत्ति जाल में क्यों नहीं पड़ेंगे ये विपत्ति जाल क्या है संसार जाल विपत्ति जाल है जो अपने संसार में पड़ा वो विपत्ति में पड़ा जो संसार कागज में डूब रहा है जो संसार जाल में फंसा हुआ है जो अपने <clears throat> संसार चक्र में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है तो उसे तो दुख हो गई परेशानी हो गई यही उसके लिए विपत्ति हो <clears throat> तो इस प्रसंग में दूसरे इसमें शास्त्र कार्य याद दिलाते रहते हैं कि जीव की स्थिति क्या है <clears throat> और कैसे जीव का उद्धार हो सकता है कैसे उसका कल्याण किस प्रकार से हो सकता है ये बात बार बार जगह जगह समझाते रहते हैं यहाँ पर उस प्रसंग में फिर बता दिया <clears throat> जो यज्ञ अपने चिंता के कारण ही अपने संसार की रचना करता है राजदेशात्मक संसार बना करके यज्ञ जो है सभी के समान तो से सत्य समझ करके उसमें खड़ा हुआ दुखी होता रहता है पीड़ित होता रहता है उससे छूटने का उपाय ये नहीं कि वो व्यक्ति अपने आप से ही इस संसार को तिरस्कार कर दे निवेश कर दे कि कोई संसार संसार कुछ नहीं ऐसे करके बोल गए तो उसके कहने से उसको संसार हटेगा नहीं उसके तो जब भगवान की शरण में जाएगा तभी हटेगा और जब भगवान की कृपा होगी तभी उससे निवृत्त होगी ये उपाय बताइए यहाँ तक जो हो गया ये पांच पंक्तियों में इस कथा का जो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भगवान का नाम लें भगवान का ध्यान करें भगवान की शरण में जाएं भगवान की सेवा में लगे ये सब बात कहने गए शंकर जी ने समझा दी अब आगे की कथा सुनाते हैं कहते फिर क्या हुआ कि पुल सुग्री वही लीन बुलाई पुल की मैंने आगे कथा सुनो हाँ, फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो है भगवान राम ने सुग्रीव को बुलवाया जो सुग्रीव राजा हो गया तब बुलवाया दिन बुलाई तो मैंने भगवान तो वहां गए नहीं वो तो बाहर गए नगर के तो वही भगवान यहाँ थे वहां बुलवाया सुग्रीव को आया और बहुत प्रकार ने निपटने की सिखाई और उसको कहा कि देखो तुम राजा हो गए बहुत अच्छा हो गया तुम्हारा डर दूर हो गया तुमको शांति प्राप्त हुई अब विश्राम हुआ तुमको लेकिन अब तुम राज्य व्यवहार किस प्रकार से करो वो सब सिखाया उसको हम्म, राजा का क्या धर्म है उसको ध्यान रखो अब राजा के बहुत प्रकार मैंने सब प्रकार के राजनीति की बातें जो है वो भगवान ने सब समझाई भगवान स्वयं भी राजवंश पैदा हुए शिक्षा भी प्राप्त हुई राजनीति की सब शिक्षा भी भगवान को प्राप्त हुई तो वो लौकिक जिससे कहो तो भी उन्होंने फिर सुग्रीव को राजनीति बताए और पहले देख करके आए फिर रिपीट में उसको करते हैं जब भरत जी चित्रकूट में आए और लोग करके जाने लगे जब अयोध्या तब भरत जी ने भी भगवान से पूछा कि हमारा धर्म क्या है हमें क्या करना चाहिए तब भगवान ने संक्षेप में बता दिया कि मुखिया मुख्य चाहिए खान पान में एक पाले से सगल अंग तुलसी सहित दुबे हम्म? यही बात जो वो हो सुग्रीव को भी समझा दी ताकि देखो जब सब जितनी तुम्हारी जनता है उसका सबका प्रेम पूर्वक उसका पालन करो ये तुम्हारा धर्म है तुम तो सब जनता की सेवा करो राजा सेवा करने के लिए है राजा सेवा लेने के लिए नहीं है कहीं प्रया कहीं कहीं किसी को कोई कष्ट न होने पाए कहीं किसी को दुख पीड़ा न होने पाए कोई तुम्हारी शिकायत न करे सब तुम्हारे अनुकूल रहे सब तुमसे संतुष्ट रहे इस प्रकार से करो ये सब राजनीति की बात है सबके <clears throat> राजनीति के राज्य के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों को परिपुष्ट रखो मंत्रियों को भी प्रजा को भी धन को से इत्यादि भी रखो ये सब जितने भी उसके राज्य के जितने अंग हैं उनको सबको सशक्त भी रखना चाहिए वो भी सब उनको गुरु को सबको सब सब बातें समझा दी राज्य तो समझा देने के बाद में फिर सुग्रीव भी भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान राज्य का हमको मिल गया और आप यहाँ नगर के बाहर पड़े हो और कष्ट उठा रहे हो आप भी आइए हमारी राजधानी में हमारे राजभवन में और आप ये अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ पड़े रहो राजधानी में आकर के राजभवन में आकर के वहाँ पर आप रहो हम आपकी सेवा वहाँ पर करेंगे आप हमारे स्वामी हो प्रभु हो हम आपकी सेवा करना चाहते हैं आप वहीं रहो आकर के चलो वहाँ पर आपने लक्ष्मण जी को भेज दिया उन्होंने राजतिलक करवा दिया लेकिन आप नहीं आए आपको भी तो चलना चाहिए तो बहुत प्रार्थना की उसने सुग्रीव ने भगवान से तो भगवान उसे कहने लगे कि चल प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा कि हे सुग्रीव तुम तो हरीश हो गए तो इसको मैंने हाँ, हाँ, हरी माने बानव बानवों के राजा तुम हो गए तुम तो हो राजा तुम अपनी राजधानी में रहो राजमहल में रहो लेकिन पूरे न जाऊं दस बार दस चार बरीसा लेकिन हम जो है तो तपस्वी हैं बनवासी हैं हमें तो चौदह वर्ष तक है वन में ही रहना है चौदह वर्ष का व्रत है तो उसी इतने दिन तक हम तो नगर में जा नहीं सकते तो तुम्हारे राजभवन में तुम्हारे रह नहीं सकते इसलिए हम भाई नहीं आ सकते हम यही रहेंगे नगर के बाहर ही तुम्हारे रहेंगे पूर्ण में जाऊं बस चार बरीसा पुरुष मन नगर कहीं तो गांव कहीं नगर इस प्रकार के ये सब प्रयोग करते रहते मैंने जहाँ बस्ती है सब जगह जहाँ जहाँ बस्तियाँ थी चाहे गाँव हो चाहे करो भगवान वहाँ बस्तियों में नहीं गए यहाँ पर भी उससे भी कह दिया था जब पहुंचे थे सैन्यदेरपुर में और जब वहाँ पर वो मिला था <clears throat> निषाद हाँ, तो उससे उसने भी भगवान से चलने के लिए कहा ले जाने के लिए अपने राजभवन वगैरह में तो वहाँ भी भगवान ने यही बात कह दी तो मना कर दिया आगे चल करके देखोगे ये राजा लोग हैं वो भी भगवान को बुलाते हैं अपने राजभवन में और ठहरने की बात कहते हैं लेकिन भगवान जाते नहीं वो भी एक राजा था उसके यहाँ भी निषाद राज के पास भी नहीं गए ये पतिराज है उनके भी जा करके उनके राजभवन में भी नहीं गए <clears throat> इसी तरह से ममता में देखते रावण मारा जाता है तो विभीषण भी भगवान से कहते हैं अपने राजभवन में ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर भी सुग्रीव के विभीषण के कहने पर भी वहाँ पर भी भगवान नहीं जाते हैं इस प्रकार से कभी भी चौदह वर्ष तक कहीं किसी हाँ गई नहीं किसी बस्ती में भगवान नहीं गए तो कहते पूर्व में जाए चार बरीसा तो बस आप भगवान ने जो भी कहा क्योंकि देखो गत ग्रीष्म में वर्षा ऋतु आई अब गर्मी समाप्त हो गई है वर्षा ऋतु आ गई अब तक पानी बरसने की मैंने शुरुआत हो गई बादल आने लगे पानी बरसने लगा तो वर्षा ऋतु आई रही है निकट शैल पर छाई इस वर्षा ऋतु में तो और कोई कार्य इस प्रकार के नहीं होते जैसे बाहर निकलने के क्या आना है ये सब कार्य नहीं होते हैं तो अब हम यहीं पर उसी पर्वत के ऊपर यही निकट पर हम बात करेंगे और तुम अपनी तब तक राज्य की व्यवस्था ठीक ठाक कर दो मैंने उसको सब चीज अभी तक बालिका राज्य था अब तुम्हारा हुआ तो तुम मंत्री प्रिया इनको सबको बुला करके सभाएं करके सबके सुख दुख को पूछ करके जहाँ जो कार्य करने हैं उन सबको करने की व्यवस्था भी बीच में तुम कर लो तुम्हारा अपना कार्य सुदृढ़ हो जाए राज्य का और उधर वर्षा ऋतु भी बीत जाए उसके बाद में फिर देखा जाएगा फिर सीता <clears throat> जी की खोज वगैरह का कार्य उसके बाद में होगा ये उनसे कह दिया रैयो निकट शैल पर छाई यही पास हम नहीं पढ़ेंगे कोई दूर जाने वाले नहीं निकट रह करके कुछ भगवान ने ये भी संकेत कर दिया उनको कि अगर होता चाहे कहा नहीं कि तुम आते जाते रहना वाल्मीकि ने भी कह देते हैं कि तुम आते जाते रहना लेकिन यहाँ आने जाने की बात नहीं कहते हैं भगवान कहते हैं अंदर सहित करो तुम राजू तुम जाओ राज्य करो जा करके और अंगद की सहायता लेते रहना अंदर सहित करेंगे अंदर युवराज बना दिया गया था इसलिए आगे चल करके अंदर को ही राजा बनना था इसलिए राज्य के कार्य में उसको भी पार्टिसिपेट करना था तो उसको कहते उसको भी साथ लो और अपनी राज्य व्यवस्था संभालो तुम तो अपनी अं- अंगज सहित करो तुम राजू और संकट हृदय घरे मम बस ये याद रखना कि हमारा काम भी होना है हम्म? बस इतना हमारा काम भी होना है मैंने सीता जी की खोज करनी है उनके सीता जी को लाना वो काम है वो याद रखना हम्म? अब देखो भगवान का वचन जो है किस तो प्रकार का है संकट घरे हृदय मन काजू मेरे काम को सदा ध्यान में रखे अन्य लोगों के लिए भी यह है कि भाई सब लोग अपने अपने काम करते रहो लेकिन भगवान का भी कुछ काम है उसे याद रखा करो कोई सुग्रीव के लिए बात थोड़ी है भगवान जब कहते हैं तो सभी के लिए कहते हैं कहते तुम अपने अपने काम में तो लगो हम कब कहते हैं तुम अपना काम न करो है अपना काम करो खाओ पियो कमाओ अब ये सब जितने अपने अपने काम है तो अपने अपने काम करो लेकिन हमारे काम का भी तो ध्यान रखो हम्म। उनका भी तो काम करना है भगवान का भगवान का क्या काम है, भगवान का काम बस यही है कि समस्त विश्व जो है भगवान का ही रूप है और सब जगत की सबकी उसी की सेवा भगवान की सेवा करनी है तो भगवान की भी सेवा होती चले यही कार्य उनका <clears throat> विश्व की जगत की सेवा कैसे होगी धर्म की स्थापना हो सन्मार्ग पर लोग चले भगवान यही चाहते हैं भगवान अवतार कुछ नहीं लेते हैं उनका क्या काम है धर्म की स्थापना हम्म, तो भगवान के भक्तों का क्या काम है भगवान का काम करना तो भगवान का काम धर्म की स्थापना है तो भक्तों का क्या काम है अब देखो अभी कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं कठिन बात है वो सोचने में आती हो हाँ, कि कैसे भगवान की सेवा करें <clears throat> इसलिए इस प्रकार से उसी धर्म की स्थापना करना ही भगवान की सेवा का काम और बिना स्वार्थ के उसमें कोई नहीं धर्म की सेवा कर रहे हैं समाज में धर्म की स्थापना कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उसमें अपना कुछ हमें अपना कोई स्वार्थ इसलिए कर रहे हैं बिना स्वार्थ के जैसे भगवान में स्वार्थ धर्म की स्थापना करते हैं ऐसी धर्म की स्थापना जब की जाती है तो बिना स्वार्थ की की जाती है तो संत भरे मम काजो और जल सुग्रीव भवन फिर आए और जब फिर उसके बाद में सुग्रीव चले गए लौट करके अपने भवन में अपना राज्यपाल देखने लगे इधर भगवान राम ने क्या किया कि राम प्रदर्शन गिर पर छाए भगवान राम जो है प्रदर्शन गिर के ऊपर <clears throat> बात करने लगे भाई एक और पर्वत था ऋषभू पर्वत पर तो सुग्रीव था ऋषभू पर्वत पर नहीं खड़े भगवान है भगवान खड़े प्रदर्शन पर्वत के ऊपर एक तो एक और पर्वत था उसका नाम था प्रदर्शन उसके ऊपर भगवान थे वहां क्यों ठहरे क्योंकि देवता